एक तिरसठ समाप्ताय पंचमो मंत्र प्रतिशत ज्ञान टीचर आज चतुर्वेद का इक्कीसवें अध्याय का पांचवा मंत्र कहा जाएगा और उसकी व्याख्या भी की जाएगी ओम तथो विराट जायत विराजो पुरा परमेश्वर ही से सब समस्ती जगत उत्पन्न होता है वह उस जगत से पृथक उसमें व्याप्त भी हुआ उसके दोषों से लिप्त न होके इस सब का अधिष्ठाता है इस प्रकार सामान्य कर जगत की रचना करके विशेषकर भूमि आदि की रचना को क्रम से करते हैं वेदस प्राप्त करें मंत्र में अनेक बातें बतलाई गई हैं यह विविध जगत जिसकी हम गणना नहीं कर सकते ये ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ जो लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते उन लोगों के मत में यह जगत स्वतः उत्पन्न होता है स्वयं उत्पन्न हो जाता है तो आजकल भी ये विशेष रूप में पढ़ाया जाता है कि ये संसार अपने आप उत्पन्न होता है इस रूप में पढ़ाया जाता है लोगों ने जो कल्पनाएं की है अमीवा नाम का एक जंतु उत्पन्न हुआ उसके अंदर विविध प्रकार के शैल अंश आए वो बना उसके पीछे धीरे धीरे इनके मतानुसार वो मछली के रूप में आया उसके पश्चात वहां धीरे धीरे बंदर के रूप में आया उसके पश्चात उसकी पूछ इस करके फिर मनुष्य के रूप में आया अब आगे पता नहीं इसका परिवर्तन क्यों नहीं हुआ अब तक भाई कोई मनुष्य बन के बिगड़ रहा हो कुछ बढ़ रहा हो ऐसा ऐसा समझ में नहीं आ रहा क्योंकि विकास का स्वभाव जब विकसित होना है तो और वो विकसित होता जाना चाहिए था के न समझने न पढ़ने से ऋषियों के ग्रंथों के न पढ़ने से न समझने से पाठ्यक्रम पुस्तकों में पठन पाठन में ऋषियों के ग्रंथों के न पढ़ने पढ़ाने से ये सारा अज्ञान अंधकार फैला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक हेतु दिया कि जड़ पदार्थ स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकता क्या समझ में आया जड़ पदार्थ स्वतः स्वयं उत्पन्न नहीं हो सकता अब बात तो छोटी सी दिखती है जड़ पदार्थ जो ज्ञान रहित है वह स्वयं मिल रहे और उत्पन्न होने वाले का कोई उद्देश्य भी होना चाहिए जो उत्पन्न होंगे मिलकर के कई जड़ पदार्थ उनका कोई लक्ष्य भी होगा क्या नहीं होगा जब लक्ष्य होगा तो वो नक्शे वो ज्ञानवान होते वही बना सकेंगे ज्ञानवान होगा वही नक्शे बना पाता है आप जब भवन पर आते हैं तो आपका लक्ष्य होता है कि इस भवन में हम भोजन पकाए इस भाग में इसमें स्नानागार इसमें शौचालय इसमें विश्राम गृह आपके लक्ष्य होते हैं ये भवन निर्माण आपने इसलिए बनाया कि इसमें ये काम सिद्ध करना है सबसे पहली बात है कि जड़ पदार्थों में ये सोचने का ज्ञान विज्ञान नहीं रहता कि हम मिलकर के बने और मिलकर के बने और अमुक उद्देश्य को पूरा करें अब क्या समझ में आया नहीं आया तो। मन बनने से पहले ये हजारों ईटें पहले ये सोचें कि हम घर बने भवन बने तभी तो मतलब से होगा सारी ईटें मिलके ये सोचें हम सारी मिलकर के घर बनेंगे क्यों और घर बनने में भी इनका उद्देश्य होगा ये शौचालय बनाएंगे यहां पर पाकशाला बनेगी यहां विश्राम गृह होगा ये भी होना चाहिए लक्ष्य तो बनाएंगे कि भाई घर क्यों बने अच्छा किसके लिए बनेंगी ये घर आप बोलो घर बनेंगी और वो घर किसका प्रयोजन सिद्ध करेगा जो घर बनेगा बताओ किसी चीज तो नहीं तो बधाई नहीं तो बताएंगे किसी तो किसी चीज का मनुष्य आदि अभी किसी मनुष्य आदि का किसी मनुष्यों का प्रयोजन अच्छा वो मनुष्य भी ईटों का बना हुआ होगा <laughs> वही सब ईटों का बना हुआ है मनुष्य भी तो ईटों का ही बना हुआ है अच्छा ईट घर बनती है अपने लिए कभी नहीं बनती चार पाई चार पाई के लिए नहीं होती क्या होती है कोठी कोठी के लिए और हलवा सीरा सीरे के लिए नहीं होता और किसके लिए होता है कोई और है खाने वाला सीरा उसके लिए होता है अपने लिए सीरा नहीं बनता रोटी रोटी के लिए नहीं होती पैंट पाजामा धोती धोती के लिए नहीं होता धोती बांधने वाले के लिए होता है तो इनको नहीं सोचना आता इनका दिमाग यहां काम नहीं कर रहा सबसे पहला प्रसंग है कि स्थिति जब नहीं बनी थी उस अवस्था में परमाणु पड़े थे जिसको आप मैटर कहेंगे नेचर कहेंगे हम उसको प्रकृति बोलते हैं सत्व रजतम बोलते हैं जिससे ये विविध संसार बना बनता है उस सामग्री का नाम प्रकृति है वो दूसरे लोग उसका दूसरा नाम थे कोई बाधा नहीं है पर याद रखना उस समय जब नहीं बना था संसार तो उससे पहले क्यों नहीं बना और उसी काल में क्यों बना ये नहीं आया तो पहले क्यों नहीं बना पहले क्यों नहीं बना क्या बात पहले बना नहीं था क्यों रहा था वो ये कहेगा इसका स्वभाव बनने का पहले रुकने का था और रुका हुआ था इसके बनने का स्वभाव उभर के आ गया ये बनने लग गया वो यही उत्तर देंगे वो लोग तो लोक में संसार में यदि इस सिद्धांत को देखा जाए तो ये खंडित हो जाता है क्या जी वीरेंद्र जी नींद आती हो सांस खोलो और ढूंढो तो ये संगति नहीं लग रही है क्या संगति नहीं लग रही जो वस्तुएं बनती हैं संसार में वो अपने लिए नहीं होती घर मकान अपने लिए नहीं होता मोटर कार जो भी रेल का इंजन जो डब्बे डिब्बे डिब्बों के लिए नहीं होते कपड़ा कपड़े के लिए नहीं होता भोजन भोजन के लिए नहीं होता यदि यह माना जाता है संसार भूतों का एक पिंड है तो भोजन भोजन के लिए होना चाहिए फिर कुछ कम पकड़वाई बात जी बना है यदि ऐसा माना जाता है भूत पृथ्वी जलवायु आकाश अपने लिए होते हैं तो ये प्रसंग समाप्त हो जाता है कि वो दूसरे के लिए नहीं होंगे अपने लिए तो होते नहीं हो वो दूसरे के लिए होते हैं इसलिए ऋषियों ने एक बात कही जो संसार बना है वो परार्थ है दूसरे के लिए नहीं है अपने लिए नहीं है ये ऋषि मानते हैं क्या मानते हैं परार्थ जितना संसार विविध बना है ये अपने लिए ये अपने लिए नहीं है सोना चांदी धातुएं अपने लिए नहीं जो हम मकान बनाते हैं जितनी हजारों चीजें थाली लोटा ये अपने लिए पर के लिए है प्रार्थ है संघर्ष प्रार्थत्वाद जितना संसार की जो रचना है वे पर के लिए है और पर कौन है आत्मा हम पर कहलाते हैं आत्मा पर है दूसरा है और प्रास है ये संसार प्रास का मतलब जीवात्माओं के लिए है ये इसका मतलब ये हुआ ये संसार जीवात्माओं के लिए है और जड़ पदार्थ जो होते हैं वह सुख दुख आदि की अनुभूति नहीं कर सकते हैं उनका कोई प्रयोजन नहीं है आगे बढ़ो थोड़े आप एक परिणाम पर पहुंच गए पदार्थ है ये और जड़ पदार्थ जो है वो अपने आप नहीं बनते ध्यान देना वैज्ञानिक लोग तो सृष्टि बन जाती है शरीर मिल जाता है जो सोचना आरंभ करते हैं जो सृष्टि नहीं बनी थी रचना नहीं हुई थी कोई वैज्ञानिक कैसे सोच सकता था कल्पना की थी कुछ भी नहीं सोच सकता सृष्टि पहले बन जाती है बन के खड़ी हो जाती है खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है तब शरीरों की रचना होती है अब क्या समझ में आया देखिए पहले सृष्टि की रचना हो जाती है विविध चीजें बन जाती है जीने की स्थिति बन जाती है घास आदि खाने की खाद्य चीजों की उत्पत्ति होती है उसके पीछे शरीर की रचना होती है विज्ञान की खोज तो पीछे करता है व्यक्ति जब शरीर मिल जाएगा वो जवान हो जाएगा तब वो खोज तो पीछे होती है इसलिए भौतिक वैज्ञानिक जो ये मान के चलेंगे ये संसार अपने आप बन जाता है अपने आप विकसित हो जाता है बिना सिर पैर की बात तो या, याद रखिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति सोचने वाला व्यक्ति इसको मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं होगा कि संसार अपने आप बनता है एक वर्ग ऐसा भी है वो कहता संसार बनता ही नहीं सदा जो बना बनाया है वो क्या कहता है बना वो कहता है बना कभी नहीं आज के वैज्ञानिक तो छह सात प्रकार से लगभग मानते हैं संसार ऐसे बना ऐसे बना ऐसे बना वैज्ञानिक और एक वर्ग ऐसा मानता है वो कहता संसार बना कभी नहीं सदा से राधिकाल से बना बनाया है और ये बिगड़ेगा भी नहीं अनंत काल तक बना रहेगा ये कैसा लगता है ठीक है ना और सूर्य को बनते देखा नहीं चंद्रमा को बनते देखा नहीं हम कैसे मान लेते हैं कि सूर्य बना है चंद्रमा बना है वो ये कहते हैं तुम्हारे परदादा ने देखा नहीं किसी ने बनते तो देखा नहीं तो बना कैसा मान ले तो किसी ने कहा तेरी माँ के पेट से तुम पैदा हुआ तो किसी ने देखा नहीं पता जी माँ के पेट से पैदा हुआ तो देखता है कोई तो क्यों मानते हैं माँ के पेट से पैदा हुआ देखना ही भी प्रमाण है नहीं समझे हाँ। दादा के दादा को किसी ने देखा तो उसको नहीं था ये मान लो फिर तो याद रखो ये संसार टूटता है चूर चूर होता है नष्ट होता है इससे पता क्या चला वो कभी बना ये बना हुआ है जो चीज टूटती है फूटती है इससे ये सब दुआ वो चीज बनती है भूमि पत्थर हीरा मोती कुछ भी ले लीजिए आप टूट जाएगा इसका मतलब ये बना बना बनाया नहीं हो सकता तो फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं कि संसार बना है वो कहते बना है ही नहीं बना बनाया तो ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं बना बनाया संसार है और बना बनाया रहेगा फिर उनके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया बना बनाया संसार है और बना बनाया रहेगा तो ये मनुष्य शरीर पशु शरीर ये कर्मों का फल कैसे कहते कर्मों का फल कर्म दे देता क्या कर्म स्वयं फल देते भाई स्वयं कर्म कर्मों का फल दे सकता है क्या नहीं नहीं देता हम्म? कर्म स्वयं कर्मों का फल दे देता ईश्वर को मानने की क्या देता आग में हाथ डालो हाथ जल जाएगा हो गया ना फल या नहीं हुआ है जी चाकू चलाओ उंगली कट गई हो गया फल तो कर्म कर्म का फल दे देता है या नहीं हाथ खड़ा करो अच्छा बात बड़ी रोचक है अच्छा आप ये बताओ आप में से कोई एक गधा घोड़ा बनना चाहता है अगर बात बस इतनी है देखिए याद रखिए कि ये जो संसार है इसका बनाने वाला ईश्वर है और एक प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए जो चित्र बना बनाया गया और में नहीं जाना आदि जिस समय ये संसार नहीं बना था प्रलवस्था थी ईश्वर आज भी व्यापक है उस समय भी व्यापक था जीवात्मा मूर्छित पड़े थे बिल्कुल बेहोश और सत्वरजतम कारण अपनी स्थिति में थे ईश्वर ने सत्वरजतम को लेकर के जैसा चित्र बना है महत्व नाम पदार्थ पैदा किया महत्व नामक पदार्थ से अहंकार नामक तत्व पदार्थ किया उत्पन्न किया और अहंकार नामक तत्व से पांच ज्ञान दिया पांच कर्म दिया एक मन और पांच तन्मात्रा सोलह पदार्थ उत्पन्न किए उन पांच तन्मात्राओं से ये पृथ्वी जलवायु आकाश जो दिख रहे ये उत्पन्न किए इसके पश्चात ये हमारा शरीर उत्पन्न होता है जो व्यक्ति इस विद्या को जानता है इस विधि को जो आपको बताया था समाधि कैसे लगती है संसार को इसी प्रक्रिया से सोचो जब ऐसा था भगवान ने इसको धीरे धीरे यहां लाते लाते यहां तक रचना कर दी पर्दा होगा तो हमारे शरीर सारे नष्ट हो जाएंगे सारे शरीर नष्ट होने के पश्चात पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश नष्ट हो जाएंगे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश नष्ट होंगे वह तन्मात्राओं में लीन हो जाएंगे तन्मात्राएं ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया अहंकार में लीन हो जाएंगे अहंकार महत्व में लीन हो जाएगा मैं तो सत्व रजत तब में बदल जाएगा और पर्णवत अवस्था आएगी ये है संसार की उत्पत्ति स्थिति पर लय इसका रचयिता करने वाला ईश्वर है ऐसा मानना चाहिए अवगत